रेडियो मधु बनाया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिला मन का गुलशन का सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन बन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिला मन का गुलशन सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए हमारे साथ सिक्किम गैंगटॉक से करुणा जी उपस्थित हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं तो उनका अनुभव सुनेंगे आप सभी की तरफ से करुणा भाई का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति अच्छा अच्छा उसके बाद जब पॉलिटिक्स में होते होते उसके बाद मेरा अपने पिताजी का बड़े भैया हम्म, हम्म, हम्म। वो थोड़ा पॉलिटिक्स में था उनके साथ उनका सपोर्ट में था मैं उसके बाद हम्म, ऐसे तीन चार साल पाँच साल के बाद में पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया पॉलिटिक्स में नेता लोग के साथ में हम्म, हम्म। जब पॉलिटिक्स में थोड़ा उसका जीवन सफल नहीं हुआ उसके बाद थोड़ा डिप्रेशन जैसा फील किया फील किया <laughs> उसके बाद मन ने सोचा हम लोग के लिए शायद भगवान हमारे लिए मदद नहीं करता है भगवान ही नहीं है दुनिया में हम्म। सच्चाई के रास्ते में चलता है उसके हम्म, हम्म। लिए भगवान मदद नहीं करता है उसके बाद ऐसे सोच के हम लोग यूथ की यूथ की उसमें था कि मेरे साथ में तीन दस पंद्रह लड़का लोग साथ में था युवा लोग उसके बाद हम लोग साथ में था उसके बाद हमारे बड़े पिताजी का बड़े भैया और जो पहले से ज्ञान में था उसने ये बोला तुम लोग ऐसे बैठे थे से नहीं होगा उसके बाद तुम लोग थोड़ा ब्रह्म कुमारी इसका उसमें सेवा करो ऐसा बोल के उन्होंने गाँव में पर्दा से मिल लगाने का वो किया हम्म। उसके बाद तो फिर हम लोग ने उसको सहयोग करके फिर गाँव में पर्दा से का तैयारी किया पर्दा से नहीं लगाया उसके बाद मेरे को ज्ञान बहुत अच्छा लगा आत्मा परमात्मा दुनिया में हम्म, है तो खाली भगवान आत्मा है बाबा आत्मा है हम्म। ये को लगा अच्छा लगा उसके बाद मैंने जो पहले ज्ञान में इसमें आने से पहले ज्ञान सुनने से पहले मैं बहुत दारू दारू भी पीता था मांस ऐसा बहुत था फिर उसके बाद जो मैंने ज्ञान मेरे मिला यसै टाइम मैले छोड़ दिया ये मेरे को मुझे हज़ार यो दुई हज़ार चार अगस्त बाइस तारिकको को मेरे परिचय मिला उसके बाद सेप्टेम्बर दो तारिक से ज्ञान में आया उसके बाद मेरा साथ में जो मेरे साथ में जितना सपोर्टर मेरे को मेरा सपोर्टर लोग था जी जी जी ज्ञान में आया उसके बाद फिर वो लोग धीरे धीरे करके छोड़ते गया अपने आप को फिर मैं अकेला रह गया सेंटर में आके भी बड़ी दीदी ने बोला तुम सेंटर में रह जाओ हाँ हाँ हाँ सेवा किया समर्पित हो गया अभी मेरा इक्कीस साल हो गया समर्पित <laughs> चलिए करुणा भाई बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कैसे आप पॉलिटिक्स में थे वहाँ पर सफल नहीं हुआ तो डिप्रेशन में चले गए टेंशन में आ गए तो धीरे धीरे आपका जो है ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आई लेकिन उस बीच में आपको ब्रह्मा कुमारी के बारे में पता चला उनका प्रदर्शन ही आपने देखा तो वहाँ से आपको ज्ञान मिला और ज्ञान मिलते मिलते आपके जीवन में परिवर्तन आ गया और आप अभी फुल टाइम ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं लोगों की सेवा कर रहे हैं और आपने कोशिश भी की अपने जो पॉलिटिक्स में थे उन साथियों को लाने का वो आए भी कुछ समय के लिए लेकिन धीरे धीरे वो वापस अपनी दुनिया में चले गए और आप परमात्मा की इस दुनिया में रहकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं तो बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं आप सुना है radio one one zero seven point eight F M सुनते रहो मुस्कराते रहो हर पहलू पर होती है बातें हर वर्ग के हर लोगों से होती मुलाकातें सबके मन को तो भाती है बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में ब्रेक के बाद अभी हमारे साथ नेपाल काठमांडू से विशेष मेहमान आए हुए हैं उनसे बातें करते हैं रवि बिष्ट हमारे साथ है जिनसे हम लोग बातें करेंगे आपका प्रोफेशन होटल था होटल बिजनेस और अभी रिटायरमेंट लेकर आप ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं और अच्छा जो है स्परिचुअल लाइफ जी रहे हैं तो आइए कैसे होटल इंडस्ट्री से आप स्पिरिचुअलिटी में आए इसकी कहानी रवि बिस्ट जी से सुनेंगे स्वागत है आपका तो जी जी जी तो बाद में हमने एहसास किया पीस ऑफ माइंड बहुत दिखाया वो भक्ति मार्ग में तो बहुत हमने सावधान बहुत किया था सब इतना किताब पढ़ा था सब जी जी जी तो पंद्रह साल तक हमने वो गीता का वो भी पाठ किया वो बिना द्वारा हमें गा गा के श्री कृष्ण जी के उपदेश देकर वो हम पढ़ते थे हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा किया था तो एक बार हमने शिवानी दीदी को प्रोग्राम देखा उसने क्या बोले if you change old change तो इस, इसलिए तुम एक बार ब्रह्मा कुमारी में जाओ सात दिन का कोर्स करो हम्म। बहुत बार देखा आ, हमको समझ नहीं आता था तो बार बार वो शिवानी दीदी ने जाओ जाओ विदाउट कॉस्ट जाओ जाओ तो एक बार हम जो तो ठमेल हमारा मेन हेडक्वार्टर है हम्म, हम्म, दो बार गया वो चांस नहीं मिला तो हम ऐसे ढूंढ रहे थे एक सफेद वाली <laughs> लड़की को देखा हाँ। बोला ये तो ब्रह्मा कुमारी है हाँ। तो बोला बहन जी आपका सेंटर कहाँ है उसने वो मेरे घर के सामने था तो बीस मिनट का रास्ता में मेरे को पता नहीं था हाँ, हाँ। तो हम वहाँ गए तो बोला उसी टाइम में मधुबनी आने का टाइम था वो निमित्त था वो इंसार दीदी का जी तो जी बोले हम उधर जा रहे हैं इतना दिन के बाद आना हाँ, हाँ, हाँ। तो हम वो आने के बाद हमने कोर्स किया हाँ, हाँ, हाँ। तो कोर्स के करने के बाद मेरे को पता नहीं था कि यहाँ क्या कैसे खाना है पीना इसका है ना हम तो वेजिटेरियन पहले से था उसमें तो कोई बात नहीं था और सिक्सटी वन बाबा का जैसा इसमें रनिंग हो रहा था तो हम्म, हमने वो मुरली का वो भी पता नहीं था जब कोर्स पूरा हुआ तो हमने दीदी से बोला अब क्या करना है आपको हमने आपको दीदी बोलने से उसने बोला वो भोग लगाइए तो ये मुरली है मुरली सुनने आई <laughs> है मुरली हमको मालूम नहीं हम ऐसे होने से हम आता नहीं था पहले जो पता होने से मैं सेंटर में नहीं आता था क्या मेरे को मालूम टोटली ब्लाइंड था तब धीरे धीरे हम मुरली गया तो खूब इंटरेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग आने लगा हाँ। तो सब गीता का बात आने लगा मेरे को भी क्या ये पिक्चर किचड़ में भगवान बैठता है मेरे को ये अच्छा नहीं लगता था तो थोड़ा थोड़ा ओके हमको बहुत वो ज्ञान पसंद आए ज्ञान पसंद होने से वो इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट भी अच्छा होने लगा तो बाद में मेरा फैमिली वो जो है ना उसने भी सपोर्ट किया धीरे धीरे हमें तो ज़्यादा तो नहीं हुआ टू थाउजेंड एटीन से दो बार हुआ ये यहाँ मधुबनी आने के लिए आया हुआ हूँ ये बीवी को भी युगल को भी यहाँ अभी उसको भी लेकर लगा कर लेकर <laughs> बनाया मेरा फैमिली बेटा बेटी बहुत सपोर्ट है मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत अपने को बहुत भाग्यशाली है बाबा टाइम भी मिला नहीं तो क्या होता था पता नहीं <laughs> शिवानी दीदी के क्या एक्सपीरियंस से मैं इधर आया हूँ जी तो जी, जी एक महीने पहले नेपाल में काठमांडू में आए थे तो मेरे को देखने के लिए बहुत तरस रहे थे हम्म, हम्म, तो हम्म। मेरे को सामने मुलाकात भी हुआ तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल खुशी समझता हूँ तो शिवानी दीदी को <laughs> बाबा को शिवानी दीदी को इसके लाए जी जी रवि बिश जी यहाँ ब्रह्म कुमारी में आने के बाद आपने आपके अंदर जो बहुत बड़ा चेंज आ गया आपको लगता था यह असंभव है वो कौन सी चीज़ें हैं जब हम चेंज होंगे ना हाँ, हाँ हाँ तब दूसरा को चेंज कर सकते हैं तो मेरे को वही लगा मेरा बेटी ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी है उसने कोर्स किया तो उसका वो है ना पीएचडी को एजुकेशन के लिए बहुत उसका हिम्मत बढ़ गया हाँ तो वहाँ सेंटर में जाती है एडिलेड में हाँ हाँ बार बार फोन करती है तो उसका मम्मी को उसने फोर्स किया जाओ कोर्स करो एक ही बार माँ बेटी ने एक ही बार कोर्स किया <laughs> तो जाओ मधुबन में दीदी के साथ तो उसने बोलने से वो भी आ गए क्या बात है क्या बात ऐसा हो गया E जी तो एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी के लिए सभी के लिए हाँ सभी रेडियो सुन रहे हैं उन लोगों के लिए मेरे क्या विश्वास है जो ये महा ये बहुत लोग का ये कथा, मालूम है ना यदा हाँ। ये यदा ये धर्म से ग्लानी बाहर भारत है ना हाँ, हाँ, जब ये जब ये होते है ना हम्म। तब ये भगवान का अवतार से होते बिल्कुल बिल्कुल तो अभी हुआ चुका है ना बिल्कुल बिल्कुल पहले से नाइन्टी इयर्स पहले से हुआ हुआ है तो आप लोग भी आइए कोर्स करिए हम्म। तब मालूम पड़ेगा अच्छा लगे तो हम्म, आइए नहीं तो आपका मर्जी <laughs> बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए मित्रों आज हमने फिर से दो लोगों का अनुभव सुना आशा करूंगा कि आप दोनों के अनुभवों को सुनकर आनंदित हो रहे होंगे करुणा जी जो सिक्किम गैंगटॉक अभी हमने रवि बिष्ट जी का अनुभव सुना ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ और आप नेपाल काठमांडू से हैं तो अलग अलग प्रांत के होने के बावजूद भी आध्यात्मिकता कैसे हमें जो है एकत्रित करती है इस बात को आपने सुना समझा ये जो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन को परिवर्तन करता है हमें बुराइयों से बचाता है हमारा खान पान और जीवन पद्धति को नया बनाता है तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में आपको स्वास्थ्य मिलता है आपको मानसिक शांति मिलती है और आपके संबंध मधुर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि आप इस भाव को लेकर आपके नज़दीकी ब्रह्म कुमारी संस्थान में ज़रूर जाइए एक बार इस आध्यात्मिकता का अनुभव कीजिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कराते रहो